परम पिता परमात्मा का स्मरण कल्याण स्वरूप कल्याणकारक परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों परमात्मा को हम किस रूप में देखें और उसके प्रति क्या भाव रखें मंत्र में परमात्मा के गुणों को बताते हुए हमारे द्वारा की जाने वाली क्रिया को भी बताया गया है आज का मंत्र यजुर्वेद के सोलहवें अध्याय का इकतालीसवां मंत्र है और आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश में महर्षि दयानंद ने इसे छब्बीसवें स्थान पर रखा है यजुर्वेद में जहां ये मंत्र आया है उसके आगे पीछे भी बहुत से मंत्र नम शब्द वाले हैं इस मंत्र में भी नम पद पढ़ा है इसके आगे पीछे के लगभग 20 मंत्र वहां भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रति नमन भाव को प्रकट करने के लिए बताए गए हैं यहां इस मंत्र में परमात्मा को लक्षित करके नमन का भाव कहा गया मंत्र है नम शंभवाय च मयो भवाय च शम यानी सुख शम यानी कल्याण शम यानी मंगल निघंटू में निरुक्त में शम शब्द सुख नामों में पढ़ा गया है तो जो सुख को हुआने वाला है सुख की विद्यमानता कर करने वाला है ऐसे उस परमात्मा के लिए नमः नमन है आदर का भाव है सत्कार है मयो भावाय च मयस अर्थात सुख ये भी निघंटू में सुख के नामों में पढ़ा गया है महर्षि ने यहां पर शम और सुख शम और मयस इसमें अंतर किया है शम का अर्थ वो सुख है जो मुक्ति में प्राप्त होता है ईश्वर का जो आनंद है उसे शम कहा और मयस लौकिक सुख भौतिक सुख उसे उत्तृत किया गया तो जो हमें सांसारिक सुख देता है ऐसा वो परमात्मा सांसारिक सुखों की जो व्यवस्था करता है ऐसा वो परमात्मा उसके लिए नमन है सत्कार है आगे कहा नमः शंकराय च शंकर शम करोति इति शंकर जो शम को करने वाला है सुख को करने वाला है और मयस्कराय जो लौकिक सांसारिक सुखों को भी करने वाला है पूर्व में जो पद कहे गए और बाद में जो पद कहे गए उसमें भवाय और कराय इसका अंतर है पहले में कहा गया ओम नमः भवाय च तो दूसरे में यहां कहा गया शम कराय शम शब्द वही है नमः भी वही है लेकिन भवाय और कराय यहां अंतर है भवाय में भू धातु है भू सत्तायाम होना सत्ता होना विद्यमानता और कराय में क्री धातु है करना भवाय में महर्षि दयानंद ने जो अर्थ किया है वो अंतर्भावी त्रिण्यर्थ से किया है शंभवाय शंभव शंभव शब्द है यहां पर जिसे लोक में शंभु नाम से भी कहते हैं शम भावयती शंभव जो शम को विद्यमान कर देता है शम को ले आता है उसकी सत्ता दे देता है विद्यमानता कराता है उसे शंभव कहते हैं और शम कराय शंकर जो शम को कल्याण को सुख को करता है दोनों में अंतर हम कुछ देख सकते हैं अंततः एक ही तात्पर्य है लिया जा सकता है लेकिन चूंकि मंत्र में अलग अलग पढ़ा है दोनों शब्दों को शंकराय और शंभवाय तो यहां पर हमें कुछ भिन्नता भी देखनी होती है भिन्नता दिखती है जब हम शंभवाय का अंतर्भावित अर्थ यानी कराने अर्थ में लेते हैं तो जो शम को भावयती विद्यमान ले आता है शम की विद्यमानता ले आता है उसे शंभव कहेंगे और शंकर जो शम को करता है करने में और उपलब्ध करा देने में विद्यमान करा देने में कुछ अंतर है जैसे हम किसी का हित करें हमने अच्छा सोच करके हितकारक कर्म किया लेकिन उससे दूसरे का हित तो हो ही जाए ये आवश्यक नहीं होता है हमने किया है हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है करने में कर्तृत्व करना प्रधान है अध्यापक ने पढ़ाया पढ़ाने की क्रिया की ज्ञान देने की क्रिया की लेकिन छात्र को ज्ञान हो ही गया ये आवश्यक नहीं है लेकिन ज्ञान देने की क्रिया ज्ञान होने के लिए ही है छात्र में ज्ञान आ जाए इसीलिए किया जा रहा है लेकिन फिर भी वहां ये अनिवार्यता नहीं होती है लेकिन शम में जो ज्ञान को उपलब्ध करा देता है ज्ञान को की विद्यमानता करा देता है एक है ज्ञान का देना केवल देना क्रिया हो रही है और एक है ज्ञान का वहां पर विद्यमान करा देना उसमें पहुंचा देना उपलब्ध करा देना उसको ये दोनों में अंतर है जो ज्ञान को या सुख को विद्यमान कराता है उसने भी कुछ ना कुछ कर्म तो किया है सुख को प्राप्त कराने का कर्म किया और कर्म करने से वहां पर विद्यमानता हुई है तो परमात्मा शम को कल्याण को का भावयिता है हुआने वाला है मोक्ष सुख को वो दिला ही देता है शम यानी कल्याण सुख मोक्ष सुख परमात्मा ऐसे कर्म करता है जिससे हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सके एक अर्थ शंकराय और शंभवाय परमात्मा हमें मुक्ति दिला देता है मुक्ति में पहुंचा देता है शंभवाय शंभव अर्थ तो इस दृष्टि से हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं अलग करना चाहिए और यदि हम शंभवाय में शंभव शब्द में अंतर्भावित निर्थ न लें शंभावती शंभव ये अर्थ न करें शंभवती इति शंभव जो कल्याण कारक होता है जो कल्याण कारक है ये अर्थ लें तो भी दोनों में भिन्नता है परमात्मा कल्याण करता है ये एक अर्थ है शंकर और शंभव वो कल्याणकारक होता है वो कल्याणकारक है उसका स्वभाव ही कल्याण है कल्याण स्वरूप है वो वो करे या ना करे वो कल्याण रूप ही होता है अब जब हम कल्याण होने को करें संभव वो भले ही कुछ ना करे लेकिन फिर भी उसकी सन्निधि उसकी स्तुति उसकी प्रार्थना अच्छी ही होती है मुक्ति को देने वाली होती है तो जब हम कर्तृत्व को प्रधान रखेंगे तो शंकर परमात्मा में वो कर्तृत्व है शम का कर्तृत्व है मुक्ति देने का कर्तृत्व है उसकी समस्त क्रियाएं ये सृष्टि की रचना उत्पत्ति प्रलय सब कुछ मुक्ति को करने के लिए है वो क्रियाशील है सतत और वो जो कुछ नहीं भी करता है लेकिन कल्याण रूप में वो विद्यमान है मुक्ति के मोक्ष सुख के रूप में वो विद्यमान है मुक्तात्माएं मुक्ति में रहती हैं परमात्मा के आनंद को प्राप्त करती हैं इसको एक दृष्टि से कहें कि परमात्मा उनको आनंद देता है दूसरे अर्थ में कहें कि परमात्मा के निकट होने से उसको आनंद होता है एक है कि जल हमें शीतलता देता है देने की क्रिया उधर हो और एक जल विद्यमान है हम जल में प्रवेश कर गए हैं तो हमें शीतलता प्राप्त हो गई जल ने कुछ नहीं किया है जल तो जैसा है वैसा है उसमें कोई कर्तृत्व तो नहीं है हम उसके निकट गए और हम शीतलता को उपलब्ध हो गए तो परमात्मा को दोनों दृष्टियों से देखा जा सकता है इसलिए यहां कहा शंभवाय और शंकर इसी तरह से दूसरे शब्द में भी मयो भवाय और मयस्कराय पहले में मयो जो शब्द है वो भी मयस एक ही शब्द है ये तो परमात्मा सांसारिक सुखों का करने वाला है मयस्कर है और परमात्मा का कर्तृत्व छोड़ भी दें तो भी परमात्मा मयो भव है परमात्मा सांसारिक सुखों का भावयिता है और परमात्मा का कर्तृत्व भी हटा दें तो परमात्मा सांसारिक सुख ऐसा है कि परमात्मा की सन्निधि से सांसारिक सुख आने लगता है अधिक आता है सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है उसकी विद्यमानता मात्र से तो इस तरह से दो अर्थ हम इसको कर सकते हैं मंत्र में नमः शब्द पढ़ा गया नमन का अर्थ हम सामान्यतया जो लेते हैं दूसरे के प्रति अभिवादन उसके प्रति विनम्रता इत्यादि आदर का भाव वेद में नमस् शब्द बहुत जगह आया है महर्षि ने वेद भाष्य में यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के बत्तीसवें मंत्र में अनेक बार आए नमः शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ किया है और वो भिन्न अर्थ एक ही बात को खोलने के लिए है नमस में ये सब बातें सन्निहित हैं तो वहां महर्षि पहला अर्थ लिखते हैं आर्द्री भावे नमस आर्द्री भावे आर्द्र कहते हैं पिघलने को द्रवीभूत होने को जब हमारे मन में भाव होता है हम पिघल जाते हैं दूसरे शब्दों में कहें कि हम विनम्र हो जाते हैं विनम्रता आर्द्री भाव है जब हम अहंकार में रहते हैं तो कठोर रहते हैं जैसे बर्फ जमी हुई हो वो कठोर होती है जब अहंकार में रहते हैं तो कठोर होते हैं और जब द्रवी भाव को प्राप्त होते हैं पिघलने लगते हैं नरम हो जाते हैं मुलायम हो जाते हैं तो जब हमारे मन में विनम्रता का तरली भाव का द्रवी भाव आता है हम हमारा अहंकार हटने लगता है तो नमस ये उत्पन्न होता है नमन होगा ही तब नहीं तो नहीं होगा नम में अणम धातु है नम और उसका अर्थ धातु पाठ में पाणिनि जी ने किया नमो प्रभुत्व शब्दे च प्रभुत्व शब्दे च इसका महर्षि ने आख्यातिक में एक अर्थ किया नम के बोलना प्रभुत्व और शब्दे दोनों को इकट्ठा करके नम के बोलना नमन करते हुए बोलना विनम्रता से बोलना ये नमन है जब हम किसी के साथ बहुत विनम्रता से बोल रहे होते हैं तो एक तरह से हम उसका सत्कार कर रहे होते हैं उसके प्रति नमन का भाव करते हैं नमन शब्द सत्कार अर्थ में आता है वो भी एक अर्थ किया है प्रभुत्व क्या होता है तो वहां पर हुए धातु है हुए स्पर्धायाम शब्देच इसमें भी प्रभुत्व शब्देच है नम में और वहां पर भी हुए स्पर्धायाम शब्देच शब्द वहां पर भी विद्यमान है और स्पर्धा का क्या अर्थ है जो सामान्यतः हम लेते हैं प्रतिस्पर्धा एक दूसरे के समान होना लेकिन हुए का अर्थ स्पर्धा में जब हम लेते हैं तो पुकारना अर्थ भी होता है बुलाना प्रार्थना करना इस अर्थ में भी हुए शब्द आता है वहां पर नाम लेने अर्थ में पुकारने अर्थ में और जो स्पर्धा हम प्रतिस्पर्धा करते हैं वो बराबरी वाला अर्थ है बराबरी करने अर्थ में भी आता है तो प्रभुत्व शब्द हम किसी को पुकार रहे हैं और कैसे नम्रता के साथ पुकार रहे हैं ये उसका नमन होता है तो पहला अर्थ महर्षि ने वहां कहा आर्द्री भावे दूसरा अर्थ कहा निरभिमान अर्थ है नमक का मतलब निरभिमानता ये आर्द्री भावे को ही दूसरे ढंग से खोला गया है क्योंकि आर्द्री भाव आता ही तब है जब निरभिमानता होती है अभिमान घटता है अभिमान समाप्त होता है जिसको हम नमन करते हैं उसको हम बड़ा मानते हैं उसके सामने हम अपने को अभिमान से रहित करते हैं सामने वाला छोटा है उसको भी यदि हम नमस्कार करते हैं छोटे बच्चे को भी करते हैं उस समय भी हम अपने अहंकार को हटा करके करते हैं भले ही हम बड़े हैं हम बराबर वाले को भी अभिवादन करते हैं छोटे को भी करते हैं लेकिन इन सब स्थितियों में अभिमान को तो छोड़ना ही होता है यदि अभिमान है तो हम छोटे को अभिवादन नहीं कर सकते कि मैं क्यों करूं इसको इसको करना चाहिए इसी तरह बराबर वाले के साथ भी कि पहले मैं करूं या पहले वो करे अभिमान नहीं है तो हम पहले अभिवादन कर देंगे और यदि अभिमान है तो हम प्रतीक्षा करेंगे कि पहले ये करे फिर मैं उत्तर दूंगा फिर मैं नमन करूंगा और इसी तरह बड़ों के प्रति भी है दूसरे हमारे से बड़े हैं उनके प्रति यदि हम नमन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है हमारे अंदर भी अभी अभिमान है तो नमन का महर्षि ने वहां दूसरा अर्थ किया निरभिमान अर्थ है तीसरी जगह अर्थ किया शील धारणार्थ है शील का धारण करना एक शिष्टाचार का धारण करना अच्छा व्यवहार करना यह भी नमन में आता है नमन एक अच्छा व्यवहार है आगे कहा नम्रत्व धारणे मृदुता मुड़ जाना नमन झुक जाना इसको भी नम्रत्व धारणे नमन का अर्थ किया फिर एक अर्थ किया क्रोध त्यागे क्रोध का त्याग कर देना यदि हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध का भाव हो क्षोभ हो तो हमारे से नमन नहीं निकलेगा और अगर हम करेंगे भी तो सामने वाले को लगेगा नहीं कि यह नमन कर रहा है कई बार ऐसा होता है अंदर से क्रोध है उसके प्रति आक्रोश है क्षोभ है लेकिन हम नमन करते हैं कुछ औपचारिकताओं से लेकिन उसमें अलग ढंग से होता है और सामने वाले को भी प्राय पता लगता है और वो उस नमन को नमन के रूप में नहीं लेता है जब दूसरे के प्रति क्रोध का भाव नहीं है हिंसा का भाव नहीं है हानि का भाव नहीं है तब ये नमन निकलता है तो नमन का मतलब क्रोध त्याग भी है फिर एक अर्थ किया सत्कारे सत्कार में सामान्यतः हम आदर सत्कार को नमन को भी सत्कार बोलते हैं उनकी आवभगत करना कुछ जल देना अल्पाहार भोजन आदि देना आसन स्थान देना अच्छी तरह बात करना इन सबको सत्कार के अंतर्गत लेते हैं सम्मान करना शब्द है सत्कार अच्छी क्रिया जो उचित क्रिया है सत्य क्रिया है वो करना सामने वाले के साथ उचित व्यवहार करना ये नमन है उसका उसको हम नमन कर रहे हैं उसका सत्कार कर रहे हैं और एक अर्थ किया ज्ञान ग्रहणार्थ नमन का मतलब ज्ञान ग्रहण अर्थ भी है जब हम किसी के ज्ञान को स्वीकार करते हैं उसके चिंतन को उसके निर्देश को उसकी बताई हुई बातों को हम स्वीकार करते हैं तो ये भी उसके प्रति नमन होता है तो ये बहुत सारे अर्थ नमन के किए हैं तो परमात्मा के प्रति हम इनमें से जैसा भी भाव बनता है और इनको समग्र रूप से लेंगे तो नमन का ठीक ठीक रूप सामने आ जाएगा निरभिमानता भी हो दर द्रवता हो सत्कार की बात हो क्रोध रहित स्थिति हो नम्रता हो झुक जाए हम ये सब भाव मिलकर के नमस् शब्द को खोलते हैं तो परमात्मा के लिए उस परमात्मा के लिए जो शम भवाय है शम स्वरूप है और शम को करने वाला है सुख को देने वाला है उसके प्रति हम नमन का भाव रखें हम नमन करते हैं आर्य इस बात को बोल रहा है नम को निरुक्त में अन्न के नामों में भी पढ़ा है और वज्र के नामों में भी पढ़ा है और उदक के नामों में भी पढ़ा है अन्न आदि जब हम किसी को देते हैं उसके प्रति नमन करते हैं आदर से और उदक तो तरल है ही उदक कैसा होता है जल कैसा होता है जिस पात्र में जाता है उसी जैसा हो जाता है गिलास में गया तो उस जैसा घड़े में गया तो उस जैसा वो अपना आकार नहीं रखता है जिस पे हम आश्रित होते हैं जिसका हम आदर करते हैं उसके अनुरूप बन जाना उसके अनुरूप क्रिया करना उसके अनुकूल क्रिया करना ये उदक का स्वभाव है तो नमस को उदक नामों में भी पढ़ा गया है और शतपथ ब्राह्मणकार यज्ञो वही नम यहां भी लिखा है नमो नम इति यज्ञ है यज्ञ जो है वो नमस है देव पूजा संगति करण दान जो भी अच्छी चीजें हैं अच्छे कर्म हैं अच्छे व्यक्ति हैं वो यज्ञ हैं और उन्हीं के प्रति नमन का भाव होता है उन्हीं के प्रति नमन करना चाहिए हर किसी के प्रति यानी दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी नमन का भाव वो वास्तविक नमन नहीं है ये जो वही नम और शतपथ ब्राह्मण में कहा यज्ञो नमो यज्ञान एव एनान एतत् करोती जो यज्ञीय हैं उनको ही नमन करता है उनके प्रति ही नमन का भाव करता है यहां जो मंत्र हमने पढ़ा इसका देवता रुद्राह देवता लिखा है अब रुद्र तो एक अलग स्वरूप वाला है रुद्र का मतलब जो रुलाने वाला है रुला देता है जो रुद्र रूप तो रुद्राह देवता यहां पर पढ़ दिए गए यानी विषय यहां क्या है रुद्र एक तरफ हम नमन की बात कर रहे हैं शम की बात कर रहे हैं शिव की बात कर रहे हैं मयस की बात कर रहे हैं लेकिन विषय देवता क्या लिखा इसका रुद्राह देवता रुद्र के कई अर्थ होते हैं जो रुलाता है महर्षि ने कई जगह लिखा जो दुष्टों को रुलाता है दुष्टों को रुलाने वाला हमारे लिए कल्याण कारक है जो राजा अधार्मिकों को रुलाता है उनको उचित दंड देता है सुधारता है वो हमारे लिए कल्याण कारक होता है परमात्मा भी रुद्र है वो दुष्टों को रुलाता है चाहे वो दुष्टता हमने की हो चाहे दूसरों ने की हो और ऐसा करते हुए वो कल्याण का करने वाला होता है जिसको दंड देता है उसका भी कल्याण करता है और अन्यों का भी कल्याण करता है इसलिए रुद्र होते हुए भी वो शम और शिव और मयस को करने वाला होता है रुद्र का दूसरा अर्थ भी होता है यो रुद्रोगम द्रावयती जो रुत रोगम रुत मतलब रोग को द्रव मतलब द्रावयती पिघला देता है समाप्त कर देता है जो रोगों को रुजा मतलब तो पीड़ा दुख हानि बीमारी इनको जो पिघला देता है हटा देता है उसे रुद्र कहते हैं तो परमात्मा का जो रौद्र स्वरूप है वो भयंकर नहीं है उसका रुद्र रूप भी शम है शिव है मयस्कर है परमात्मा जब रुद्र होता है सृष्टि की प्रलय करता है वो भी शम के लिए करता है तो इस मंत्र का देवता रुद्र है रुद्रा देवता विभिन्न रुद्र रूप है परमात्मा के ये होते हुए भी वो कल्याण कारक है इस मंत्र का देवता और शम शब्द को देखें वहां भी इसका रुद्र भाव मिलेगा वैसे शम शब्द सुख में पड़ा है मुक्ति सुख के लिए लेकिन ये जो शब्द बना है उसमें ये भाव हमें संकेतित होता है शम के लिए एक निर्वचन किया जाता है श्यति पापम इति श्यति पापम इति शम क्षति जो है धातु शो तनु करने धातु से बना है जो कमजोर कर देता है पतला कर देता है कैसे पतला करता है जो अतिरिक्त चीजें जुड़ गई हैं जो हानिकारक चीजें जुड़ गई हैं जो पाप जुड़ गया है जो दोष जुड़ गए हैं उनको जो हटा देता है तो यहां भी परमात्मा का रुद्र रूप ही दिखाई देता है शम के अंदर भी रुद्र रूप है वो शम कैसे करता है दोषों को हटा करके करता है तो शम शति पापम इति शोत अनुकरणे और शिवु कल्याणे से भी शम शब्द बनता है शिवु कल्याणे यहां महर्षि ने भी शब्द लिखे कल्याण स्वरूप कल्याण कारक और एक मंगलमय मंगल शब्द भी आया उसके लिए एक कल्याण क्या होता है और मंगल क्या होता है तो कल्यम कल्याणम कमनीयम भवती इति कल्याण किसे कहते हैं जो कमनीय होता है कमनीय अर्थात जो इच्छा करने योग्य होता है चाह जाने योग्य होता है अच्छा होता है जो कांतिमय होता है जो कमनीय होता है वो ही कल्याणकारक होता है हम किसको चाहते हैं जिसे हम चाहते हैं जो हमारा हित करता है उसे हम चाहते हैं वो कमनीय होता है उसे ही हम कल्याणकारक समझते हैं और यहां पर कल्य शब्द है कल्य का अर्थ है नीरुजत्वम कल्यम नीरुजत्वम ददाती यती थी नीरुजत्व का मतलब है रोग रहितता रुज रोग अर्थ में पीड़ा दुख के अर्थ में जो दुख से रहित स्थिति देता है वो ही कल्याणकारक है अब देखिए यहां भी रुद्र रूप छुपा हुआ है कल्याण में भी रुद्र रूप छुपा हुआ है जो हमारे रोगों को हटाता है पापों को हटाता है महर्षि दयानंद को इसीलिए विश्वानी देव मंत्र बहुत प्रिय रहा बार बार लिखते हैं दुरित हट जाए और जो भद्र है वो आ जाए दुरितों का हटना ये मुख्य है योग साधना में भी गुणों को लाना उतना मुख्य नहीं है जितना दोषों का हटना दोषों के हटने पर कल्याण हित तो आ ही जाएगा हो ही जाएगा परमात्मा विद्यमान है उसकी उपस्थिति में कल्याण होना ही है अपने आप होगा और परमात्मा का कर्तृत्व भी मानते हैं तो परमात्मा करेगा परमात्मा ने ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी हैं कि यदि हम अपना दोष हटाएंगे तो कल्याण होने ही लगेगा अपने आप होगा और परमात्मा करेगा भी भू और क्री दोनों बातें योग दर्शन में भी आता है जैसे खेत के अंदर खरपतवार हो फसल भी हो और खरपतवार भी हो खरपतवार को हटाने से फसल अपने आप अधिक बढ़ती है ऐसे ही दोषों को हटाने से जो हमारी अच्छाइयां हैं वो अपने आप बढ़ती हैं तो जितना हमारा शम है मयस है शिव है वो दोषों के हटने पे निहित है और दोष बने रहेंगे खरपतवार अगर विद्यमान है कितनी खाद देते रहो वो खरपतवार बढ़ जाएगी वो खाद खरपतवार को बढ़ाने में लग जाएगी और फसल हमारी दब जाएगी शरीर में मल है विकार है गंदगी है कितनी ही अच्छी औषधि देते रहिए रसायन दे दीजिए दिव्य औषधियां दे दीजिए नहीं लगेंगी शरीर में लाभ नहीं होगा और दोषों को हटा दिया तो अच्छी चीज देंगे वो लाभ करेगी वो शरीर को लगेगी इसलिए इस मंत्र का देवता रुद्र लिखा गया है और इस मंत्र के अगले शब्द हैं नमः शिवाय च तराय च शिव का मतलब भी वही कल्याण कारक मंगल कारक है और शिव शब्द सुख के नामों में पढ़ा गया है परमात्मा सुख स्वरूप ही है शिव है जितना हम परमात्मा को जानते हैं उतना वो शिव है और जितना हम परमात्मा को नहीं जानते हैं वो भी उसमें शिवत्व है जितना हम जानते हैं उतना ही वो कल्याणकारक नहीं है उससे भी अधिक है शिव तर है कितना भी परमात्मा को जान ले हम ये कल्याण करता है ये कल्याण करता है ये सुख देता है जितना हम जानेंगे जितना हम जान सकते हैं उससे भी अधिक वो शिव है शिवाय च शिव तराय च परमात्मा की ही परमात्मा से तुलना है एक वो जो हम परमात्मा को शिव समझते हैं जितना समझते हैं एक वो जो परमात्मा स्वयं अपने आप में कल्याणकारक है परमात्मा हमारा कितना कल्याण करता है वो हम पूरा नहीं जान सकते कितना भी जान लें तो भी पूरी तरह नहीं जान सकते ऐसा वो शिवतर है यहां जो क्री का प्रयोग किया गया है शंकराय मयस्कराय क्री के भी कई अर्थ हैं यहां पर जो प्रत्यय हुआ है वो शम या मयस शब्द के पूर्व में रहते उपपद में रहते क्रिय धातु से पाणिनि का सूत्र है क्रियो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्यशु क्रिय धातु से प्रत्यय किया गया ट और किन अर्थों में एक तो हेतु अर्थ में हेतु का मतलब कहते हैं कारण कारण भी कैसा जो नियत कारण है परमात्मा इसका नियत कारण है दूसरा अर्थ है ताच्छिल्य तत्शील उसका ये स्वभाव है कल्याण करने का उसका स्वभाव है वो कभी कल्याण करता हो कभी कल्याण न करता हो ऐसा नहीं है उसका तो स्वभाव ही है हम परमात्मा से कल्याण की कामना करें तभी वो कल्याण करे ऐसा नहीं वो तो कल्याण के स्वभाव वाला है शील है उसका हेतु ताचिल्य और अनुलोम में उसके अनुरूप चलना अनुकूलता अर्थ में अनुलोम शब्द है एक अनुलोम और विलोम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करते हैं शब्द को समझें तो लोम या रोम शब्द है यहां पर लोम कहते हैं बाल को हमारे शरीर पर बाल होते हैं रोए होते हैं और उनकी एक दिशा होती है वो किसी तरफ दाएं बाएं या नीचे की तरफ होते हैं सीधे नहीं होते उनका झुकाव किसी एक तरफ होता है तो हमारे शरीर के रोए जिस दिशा में मुड़े हुए हैं उस दिशा में ही यदि हम हाथ को फेरें मालिश करें अभ्यंग करें तो अलग अनुभूति होती है और जिस तरफ रोए रोयों के सिर हैं सिरे हैं उसके विपरीत दिशा में यदि करें तो अलग अनुभूति होती है दाढ़ी को काटते समय शमश्रु को काटते समय रोए अलग अलग दिशा में होते हैं कई बार अनुकूल दिशा में हम काटते हैं या नई काटता है और एक कई बार उल्टे ढंग से काटने लगे सिर पे भी हम देख सकते हैं रोए लोम एक विशेष दिशा में आगे पीछे बगल में होते हैं एक उसके विपरीत दिशा में चलना होता है और एक उसके अनुकूल चलना होता है तो रोयों के अनुकूल जब हम हाथ फेरते हैं तो ये अनुकूलता करता है बाधा नहीं करता है और उसके विपरीत जब हम हाथ फेरते हैं तो वो उखड़ सकते हैं पीड़ा हो सकती है घर्षण अधिक होगा तो अनुलोम या अनुलोम में अनुकूलता अर्थ में है और प्रतिलोम या प्रतिलोम में ये विपरीत अर्थ में है बाधा अर्थ में है अगर हम विपरीत तरह से अभ्यंग आदि मालिश करेंगे तो बाल टूट जाते हैं बल तोड़ भी हो सकता है पीड़ा हो सकती है फोड़ा हो सकता है तो यहां जो क्री धातु ली गई है वो अनुलोम्य अर्थ में भी है परमात्मा हमारे को किस तरह से हित करता है कि हमारे अनुकूल हित करता है उसकी जैसी इच्छा है वैसा हित कर दे वैसा कल्याण करे ये नहीं हम आत्माओं के लिए क्या अनुकूल है उसके अनुरूप करता है वो हमारी सामर्थ्य को हमारी शक्ति को देखते हुए हमें कर्मफल देता है तो परमात्मा शम स्वरूप है मय स्वरूप है शिव स्वरूप है इनको करने वाला है परमात्मा की हर क्रिया ऐसी है उसके प्रति हमारे मन में नमन का भाव हो संध्या के मंत्रों में भी हम अंत में इस मंत्र को बोलते हैं और पूरी संध्या करने के बाद में इस नमन में हमें पहुंचना होता है परमात्मा के प्रति ये भाव बनाना होता है और केवल शास्त्र में कह दिया हो इसलिए नहीं वो हमारे लिए अत्यंत हितकर है इसलिए हमें उसके प्रति ये भाव रखना चाहिए ये हमारा कर्तव्य है और जो ऐसा करता है वो क्या बन जाता है तो इस मंत्र के ऋषि को देखें इस मंत्र का ऋषि है परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय परमेष्ठी प्रजापति और देव देव जो देते हैं जब व्यक्ति नमन स्थिति में होता है तो वो देता है दे सकता है जो व्यक्ति जितना नमन की स्थिति में होता है वो उतना देता है उतना अधिक दे देता है एक बिना नमन के सौ रुपए दे और एक नमन पूर्वक सौ रुपए दे लेने वाले में बहुत अंतर होता है एक दुत्कार करके रोटी दी जाती है एक प्रेम पूर्वक नमन आदर पूर्वक दी जाती है बहुत अंतर हो जाता है तो देवता जब देता है तो नमन विनम्रता पूर्वक देता है देवत्व में विनम्रता भी है उसमें घमंड नहीं होता है तो जो इस तरह का नमन करता है वो देव बनता है वो प्रजापति बनता है प्रजा का पालक बन जाता है रक्षक बनता है केवल वस्तुओं को कपड़ों को मकान को देने से कोई प्रजापति नहीं बन जाता उससे जो प्रजापति बनता है वो आंशिक प्रजापति बनता है और एक नमन करने वाला जो है उसने जिन जिन से प्राप्त किया उनके प्रति नमन का भाव जो रखता है और देने वाले के प्रति वो वास्तव में समाज का कल्याण कल्याणकारक प्रजापति बन जाता है और प्रजापति और देवों में भी ये कैसा बनता है तो पहला शब्द है परमेष्ठी परमे प्रकृष्ठे स्वरूपे तिष्ठती इति परमे प्रकृष्ठे स्थाने तिष्ठती इति परमेष्ठी जो परम सबसे उच्च स्वरूप में स्थित होता है उसे परमेष्ठी बोलते हैं जो सबसे उच्च स्थान पर स्थित होता है उसे परमेष्ठी बोलते हैं वही व्यक्ति सबसे उच्च स्वरूप में स्थित हो सकता है जो इस नमन से युक्त हो परमात्मा का साक्षात्कार वही कर सकता है जो इस तरह के नमन से युक्त हो और मनुष्यों में भी देवों में भी प्रजापतियों में भी वो व्यक्ति सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित होता है जो इस नमन से युक्त हो तो जिन हमारे पूर्व ऋषियों ने या ऋषि ने इसका साक्षात्कार किया वो तो परमेष्ठी प्रजापति देव बन ही गए थे ये ऋषि का नाम इस बात को बताता है कि जो जो इसका साक्षात्कार करेगा वो परमेष्ठी बनेगा प्रजापति बनेगा देव बनेगा हर व्यक्ति बन सकता है हर व्यक्ति इस मंत्र का दृष्टा बन करके यही ऋषि बनने वाला है इसी स्वरूप वाले ऋषि ऋषित्व को वो प्राप्त करेगा तो परमात्मा की इसमें स्तुति की गई और हमें क्या भाव रखना चाहिए परमात्मा के प्रति वो भी बताया गया आर्यों को परमात्मा के प्रति अत्यंत नमन का भाव रखना चाहिए और ये जो नमस्कार आदि है ये सदा मंगलमय होता है महर्षि ने नीचे लिखा श्रद्धा भक्ति से जो जन ईश्वर को नमस्कार आदि करता है सो मंगलमय ही होता है सह का मतलब वह व्यक्ति वो मंगलमय हो जाता है अन्यों के लिए अपने लिए भी और सह का मतलब सो नमस्कार आदि को लें तो ये जो नमस्कार आदि करना है ये सदा मंगलमय होता है मंगल को करने वाला होता है कल्याण करने वालों के प्रति नमन हो जो अकल्याण करते हैं जो हानिकारक हैं उनके प्रति नमन की बात यहां नहीं कही गई है समाज में जो गलत व्यक्तियों के प्रति नमन किया जाता है दुष्टों के प्रति नमन किया जाता है उससे परमेष्ठीता प्राप्त नहीं होगी जबकि लोक में क्या प्रचलित हो जाता है कि जो दुष्ट है भले ही ऊंचे पद पर है ऊंचे पद पर है लेकिन दुष्ट है उसके प्रति भी नमन का भाव ऐसे बहुत सारी क्रियाएं करने लग जाता है ऐसा करने वाला परमेष्ठी नहीं बन सकता ऐसा करने वाला प्रजापति और देव नहीं बन सकता जो शम करने वाला है जो मयस करने वाला है जो शिव करने वाला है सबका उसके प्रति जब हम नमन भाव करते हैं तो ये स्थिति हमें प्राप्त होती है तो जो नमस्कार करना है ये भी हमारे मंगल के लिए होता है ये भाव महर्षि ने बहुत अच्छे ढंग से यहां पर खोला है परमात्मा की कृपा हम पर हो और हम इस नमन के भाव में पहुंच जाएं और परमात्मा के और बड़े कल्याण को प्राप्त करने के अधिकारी बने प्रणव ध्वनि ओ